वाच्य ईश्वर प्रणवस्य इसके ऊपर शंका करते किमस्य संकेत कृतम वाच्यवाचक अथ प्रदीप प्रकाशवत अवस्थित वाच्यवाचक भाव संकेत कृत अथवा पहले से अभिव्यक्त होता है टीका में वाचकत्व का तो प्रतिपादकत्व वाचक प्रतिपादक शब्द होता है प्रतिपादक अर्थ का परे ही पश्यंती यदि स्वाभाविक शब्दार्थ संबंध संकेत नस्ना शब्दाद अयम से प्रत्येक आत्मके न शब्द अर्थ का संबंध स्वाभाविक है पहले से है जैसे वन्य में उसमें स्पष्ट स्वाभाविक है शब्दार्थ का संबंध स्वाभाविक है संकेतन अस्मा शब्दाद अयम अर्थ प्रत्यक्ष इतम आत्मा के न संकेत के तहत उसकी अभिव्यक्ति होती है अस्मा शब्दात अयम अर्थ प्रत्यव्य इस शब्द से इस अर्थ को जानना इसी एवं आत्मा के न एवं आत्मा से संकेत इसी संकेत के द्वारा ईश्वर की इच्छा कार्य की जरूरत मानते इसी शब्द से अर्थ को समझना है उसी के द्वारा संकेतिक अभिव्यक्ति मानेंगे तत्व यत्र नास्ति संबंध तत्व संकेत सतेनादिम यज्ञेगा यदि संकेत शक्ति नहीं संबंध नहीं हो जहाँ संबंध नहीं हो तो जितने कोई कहने पर भी संकेत सत्यनाद अभिव्यक्ति नहीं होगी यदि पहले विद्यमान की अभिव्यक्ति संकेत के द्वारा जहाँ विद्यमान है वहाँ तभी वृत्ति होगी जहाँ संबंध है ही नहीं जितने संकेत करने पर भी संबंध की अभिव्यक्ति नहीं होगी नहीं प्रदीप व्यंग्यो घटो यत्र नास्ति तत्र प्रदीप सहस्रणा शक्य व्यक्तु व्यंतु प्रदीप व्यंग्य होता है प्रदीप की द्वारा प्रकाशित होता है घट यत्र नास्ति जहाँ घट नहीं है तथा प्रदीप सहस्रनाथ हजार प्रदीप जलाएंगे उसके अभिव्यक्ति नहीं होती सकती सकट हो तो व्यक्त होगा कृत संकेत तो करव शब्द वारणी वारण प्रतिपाद उद्दिष्ट संकेत करने पर एक करव शब्द है वारण हाथी में संकेत किया गया तो उसका प्रतिपादक होता है तथा तो संकेत कृतमेव वाचकत्व संकेत से ही शब्द में वाचकत्व आएगा इति विमृश्य अभिमतम अभिधारयती अभिमतम अवधारयती मह जो अभिमत है इष्ट है उसको निश्चय करते हैं स्थितु अत्य वाच्य से वाचक न सह संबंध वाच्य के साथ वाचक का संबंध स्थित है अयम अभिप्राय इसका अभिप्राय कहते हैं सर्व एवं शब्दा सर्वे एवं शब्दा सर्वाकार अर्थाभिधान समर्था सर्वाकार का अर्थ विषय के कथन करने के लिए शब्द तो समर्थ इति स्थित जैसा सर्वाकार अर्थ स्वाभाविक संबंध तो आकार वाले अर्थ के साथ शब्द का संबंध स्थित है निश्चित है स्वाभाविक है स्वाभाविक संबंध है शब्द के साथ अर्थ का संबंध है संबंध यदि है उसका उसकी अभिव्यक्ति होती है ईश्वर संकेत तो प्रकाशक हो नियामक सत्य प्रकाशक है और नियामक है नियामक क्या इसी शब्द इसी अर्थ का ही वास्तव हो सबका नहीं है ईश्वर संकेत तो प्रकाशक हो और नियामक सत्य संकेत वास्तव सत्य ईश्वर संकेत असंकेत कृत वाचक अपभ्रंश विभाग तो ईश्वर जिसमें इसी शब्द से इस अर्थ का ज्ञान होना चाहिए ऐसा संकेत करेंगे तो उसी अर्थ का वाचक शब्द होगा और जो अस्थि अर्थ में संकेत नहीं है वो अपभ्रंश हो जाएगा संकेत संकेत संकेत कृत वाचक भगव कुछ शब्द वाचक है कुछ अपभ्रंश है गोत गोशब्द वाचक है गादी गोण इत्यादि शब्द है ये अपभ्रंश शब्द है गादी शब्द तो ये शब्द वाचक ये शब्द अपभ्रंश है इसी विभाग कैसे होगा इसका संकेत जिस शब्द का करेंगे इस शब्द से अर्थ समझना तो वाचक होगा नहीं तो अपभ्रंश होगा ये इतना संकेतस्तु ईश्वर से स्थितमेव अभिनयती ईश्वर से संकेत स्थितमेव अर्थम अभिनयती अर्थ को तो बताता है ईश्वर से संकेत ईश्वर से संकेतस्तु स्थितमेव अर्थम अभिनयती स्थित अर्थ को प्रकाश करता है निदर्शन यथा दृष्टान्त यथा अवस्थित पिता पुत्र संबंध संकेतन अवद्योत्यते पिता पुत्र संबंध किसी पिता का कौन पुत्र है ये तो पिता पुत्र संबंध पहले से है कोई बता देता है कि अमुको का पुत्र तो संकेत के द्वारा अवद्योत प्रकाश देते ज्ञाप्य थे ज्ञान कराया जाता है जो नहीं जानते हैं सुन करके निश्चय करके ये इसका पुत्र है अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र इस प्रकार ये इसका पिता इसका पुत्र संकेत के द्वारा तो वो पहले से संबंध है कोई बता देता है तो ज्ञान होता है और पहले संबंध नहीं हो तो शब्द से संबंध नहीं हो सकता है इसी प्रकार शक्ति पदार्थ का संबंध पद के साथ अर्थ का संबंध पहले से है संकेत के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है नम शब्द से से महाप्रलय समय प्रधान भाव उपगत शक्तिरती प्रवीण एक पुरुष चेतन पुरुष से चेतना के मानते हैं एक विभाग है चेतन विभाग और एक प्रकृति प्रकृति का कार्य स्वरूप है पुरुष चेतन उससे अतिरिक्त जितने कार्य है सब प्रकृति का कार्य है प्राधान्य को कहते प्रकृति को प्रधान कहते हैं त्रिगुणात्मक सत्वर जसम त्रिगुणात्मक प्रधान है उसका कार्य प्रकृति से बुद्धि की उत्पत्ति होती महत्व ऐसे अहंकार ऐसे तन्मात्रा त्रिभूत भौतिक सौ शब्द प्रसाद सब की उत्पत्ति होती है तो शब्द भी प्रधान का कार्य प्राधान्य कर जितने प्रधान का कार्य है सब तो महाप्रणय में प्रधान लीन हो जाएंगे प्रधान त्रिगुणात्मक साम्य परिणाम होने पर प्रलय हो जाता है तो प्रधान में एक प्रधान रूप ही हो जाएंगे फिर विषम परिणाम होगा तो सृष्टि होती है इसी प्रकार प्रधान की सृष्टि प्रलय सृष्टि पर होने पर भी वही प्रधान रहता है हमेशा है इसे नित्य मानते हैं परिणामी नित्य कहते हैं परिणामी भी है और नित्य भी सांख्य मत में दो नित्य होता है एक कूटस्थ नित्य और एक परिणामी नित्य कूटस्थ नित्य तो पुरुष है कूटस्थ है और नित्य भी है वेदांति अन्यत्र जो परिणाम उसको नित्य नहीं मानते हैं परिणाम होगा तो अवय विभाग होगा तो नित्य नहीं होगा तो एक ही नित्य होता है जो कुटस्थ क्योंकि तो ये कहते हैं प्रधान परिणाम होने पर भी नित्य है क्योंकि प्रलय फिर प्रधान भाव को प्राप्त किया फिर स्थिति होगी फिर प्रलय हुआ हमेशा रहता है प्रधान प्रकृति है तो उसको नित्य कहते हैं परिणाम परिणाम नित्य मानते हैं तो शब्द भी प्राधान्य होने से महाप्रलय में लीन हो जाने से प्रधान भाव उपगत प्रधान भाव को प्राप्त कर लिया शब्द प्रधान रूप हो गया जो शब्द प्रधान भाव को प्राप्त कर लिया उसकी शक्ति अलग कहाँ रहेगी वनी यदि नहीं रहे तो वन्ही की शक्ति कैसे होगी शब्द प्रधान भाव को प्राप्त हो गया तो शक्ति भी प्रलीन हो जाएगी शक्ति भी लीन हो जाएगी तो शक्ति कैसे रहेगी तत्व महदादि क्रमेण उत्पन्न से अवाचक से माहेश्वर में संकेतन न सत्य अवाचक शक्ति विनष्ट शक्ति का शक्ति यदि लीन हो गई फिर जब सृष्टि होती है प्रधान से महदारी क्रम उत्पन्न से महदारी क्रम से उत्पत्ति होती है महते बुद्धि को कहते हैं प्रधान से पहले महत्व की उत्पत्ति बुद्धि की उत्पत्ति होती है उससे अहंकार अहंकार से तन्नता की प्रतिमानते संख्य इसी क्रम से जो सृष्टि होती है उत्पन्न से पदार्थ जितने पदार्थ उत्पन्न हो रहे उनका वाचक कोई शब्द नहीं अवाचक सेव शक्ति नहीं रही थी पहले लीन हो गई थी फिर नई सृष्टि हुई तो उनका कोई वाचक शब्द भी नहीं था शब्द भी उत्पन्न होगा अवाचक से वो माहित है ना न सत्यावाचक शक्ति अभिजल तो। यदि कोई वाचक शब्द होता तो, तो दोनों का संबंध ईश्वर संकेत उसको अभिव्यक्त कराएंगे यदि संबंध नहीं इसका वाचक शब्द कोई है नहीं महदातिक्रम से उत्पन्न हुआ वाचक शब्द कोई है ही नहीं तो फिर कैसे ईश्वर अभिव्यक्त करेंगे महेश्वर से अयम की माहेश्वर कह माहेश्वर सृष्टि सृष्टि तो माहेश्वरी मिलेगी संकेत माहेश्वर है संकेत मिल जाए माहेश्वर है संकेत महेश्वर का जो संकेत है माहेश्वर संकेत के द्वारा वाचक शक्ति अभिजल न सत्या वाचक शक्ति इस पद की वाचक शक्ति इसमें पद में है इस अर्थ की उसको प्रकाश नहीं कर सकते ईश्वर संकेत शक्ति हो तो प्रकाश करेंगे शक्ति तो नष्ट हो गई थी अभी जल तो प्रकाशित है क्यों प्रकाश नहीं कर सकते है विनष्ट शक्ति तो शब्द की शक्ति नष्ट हो गई थी अर्थ शब्द का संबंध जो शक्ति नष्ट हो गई थी अभी महताधिकरण से सृष्टि होने पर शक्ति ही नहीं तो कैसे प्रकाश करेंगे इस तरह संकेत शक्ति का प्रकाश कैसे होगा ऐसा संक्रांत तो उसका उत्तर देते हैं वाक्य में सर्गांतर शक्ति वाक्य वाक्य शक्ति अपेक्षा तथेव संकेत क्रिय थे अन्य सृष्टि में भी ऐसी शक्ति संकेत ईश्वर करते हैं का शक्ति अपेक्षा वाच्य अर्थ वाच्य के शब्द उनकी जो शक्ति पहले थी इसी शक्ति की अपेक्षा करके ही संकेत करते हैं अन्य प्रकार नहीं जैसे पूर्व कल्प में शब्द का जो अर्थ था आगे भी शब्द का हुई उसी शब्द का हुई अर्थ होगा हस्ती शब्द का जो पहले अर्थ था वही अर्थ अभी हो घट हो हस्ती हो मंडुक हो वर्षा हो पृथ्वी जल कोई भी शब्द है उसका जो अर्थ था इसे अर्थ है ईश्वर उसी शक्ति जो लीन हो गई थी उसी की अपेक्षा करके ही संकेत करते हैं अन्यथा नहीं इसलिए यद्यपि सहसत्या प्रधान सामने उपगत शब्द शब्द प्रधान के सामने को तो प्राप्त हो गया था शक्तियात शक्ति के साथ शब्द प्रधान में लीन हो गया था प्रलय काल में तथा तो फिर जब सृष्टि होती है फिर आविर्भाव होता है आविर्भावन प्रलय हो गया था तो फिर आविर्भाव प्रकट होता है सृष्टि काल में आविर्भाव होते हुए तत्शक्ति युक्त आविर्भवती शक्ति से युक्त होकर के प्रकट होता है शक्ति रहित नहीं जिस प्रकार प्रधान में दीन होने पर भी महत्व तो अहंकार तन्माता ये सृष्टि होती प्रलय होते समय शक्ति विशिष्ट का लय हुआ था इसी प्रकार उत्पत्ति होते समय शक्ति विशिष्ट का ही की उत्पत्ति होती है शक्ति विशिष्ट महत्व अहंकार तन्मात्रा की उत्पत्ति होगी वन्नी जब समाप्त हो जाती है उष्ण स्पर्श विशिष्ट वन्य समाप्त होगी और वन्य प्रकट जो होते उसमें उष्ण स्पर्श रहेगा यह उष्ण स्पर्श कहाँ कहेगा उष्ण स्पर्श विशिष्ट वन्य की ही उत्पत्ति होती है इसी प्रकार शक्ति विशिष्ट शब्द अर्थ की उत्पत्ति होती है शक्ति युक्त आविर्भवती पदार्थ इसमें भी दृष्टान्त देते हैं वर्षातिपात समधिगत मृद भाव इव उद्भिजो मेघ विशिष्ट बारी धारा सारा उसका तेन पूर्व संबंधानुसारण संकेत किया पहले हुआ वर्षातिपात समधिगत मृद भाव उद्विज उद्विष्य जात वर्षा समाप्त होने पर सम्यक अधिगत मृद भाव मिट्टी रूप हो गया मेघ विशिष्ट बारी धारा सारा आवश्यक मेघ के द्वारा विशिष्ट विसर्ग क्या त्याग क्या मेघ से दृष्टि हुई बारी धारा जल की धारा बारी धारा का सारा अर्थ एक आचार बारी धारा का आचार दृष्टि बहुत होने पर अवश्य जैसे जन्म होने पर फिर उत्पन्न होता है जिस प्रकार तीनों बीज सब मिट्टी में चले गए समय पर आते हैं और मंडू को बताया था उद्भिज का अर्थ क्या है मंडू को मंडू का मेढक वर्षा समय में बहुत हो जाते हैं जहाँ पानी भूमि में रहते मेढ़ रह करके शब्द करेंगे तब तो जब वर्षा समाप्त हो जाएगा उस मर जाएंगे मिट्टी में सब विलीन हो गई फिर वर्षा होने पर पानी हो तो वहीं से फिर निकलेंगे वो जो मिट्टी में चमड़ा बना के चमड़ा शरीर के अंतर टुकड़ा टुकड़ा होकर के अंतर मिट्टी में मिल गया फिर वर्षा होने पर उसमें से फिर निकलेंगे वही जीत जाएंगे जीत हो जाएंगे जीवित होकर उनके थोड़े थोड़े अंश सारे अवय होते मेढक हो जाएंगे बहुत हो जाते हैं इसी प्रकार तेन पूर्व संबंधानुसार में संकेत किए जाते भगवता इसलिए भगवान संकेत करते पहले जिस प्रकार संबंध था शब्दार्थ का संबंध इसके अनुसार ही संकेत करते भगवान नहीं तो ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल मेढक नहीं वर्षा होने के बाद पानी होगा फिर शब्द सुनने लगे मेरठ से बरसात के समय बहुत हो जाते हैं नीचे से बड़े बड़े निकलते हैं कोई कोई कहते मेढक के मिट्टी के अंदर घुस गया फिर निकला क्योंकि तो ये तो कोई चीज रह सकते और कुछ उसमें छोटे छोटे वो सब जीवित हो जाते हैं हाँ वो इसके हो जाते हैं वो जो सर्वे के टुकड़े जैसे ये खटमला जो कुछ कहते उसके रक्त से बचे हो जाते हैं लाहे से बचे हो जाते हैं उद्भिज से जो होते हैं ना श्वेत से उत्पन्न होते शेर हो जाए पसना से रक्त से लाल से उत्पन्न हो जाते हैं इसी प्रकार उसके अवयव टुकड़ा उसमें से प्रेत प्रकट हो जाते हैं कोई पेड़ शाखा देता है शाखा काट कर डाल देते हैं सूखा सूखा रहता है फिर पानी हिलने पर उसमें से निकल जाते हैं ये शाखा लगाते हैं कांटे तो गर्मी में लगाएंगे कुछ पानी है सूखा फिर उसमें जड़ होकर प्रकट हो जाते हैं ऐसे होते हैं कि बहुत शाखा लगाते हैं शाखा लगाते तो पैदा हो जाते हैं वो तो थोड़ा में होता है लेकिन ये से कुछ होता है सुख मिल गया तो निकलते हैं वो मन रूप के उदाहरण देते हैं इसी प्रकार पूर्व संबंध अं, संबंध के अनुसार ही संकेत करती अर्थ इसी शब्द से अयम अर्थ आत्मा शब्दार बुद्धव्य ये भगवान संकेत करते हैं संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध इसी आगमन प्रति जानते हैं बहुत न जानते जानाते जानते प्रतिज्ञा करते हैं पति नित्यता नित्य तो संप्रतिपति ये है परंपरा सदृश परंपरा नित्य है उसी प्रकार चलने से और नित्य कहते टीका मिल गया तस्मात पत्ते सदृश व्यवहार परंपराया नित्यतया सदृश व्यवहार परंपरा होने से संबंध को नित्य कहते हैं ऐसे सदस्य जिस प्रकार घट शब्द अर्थ के साथ संबंध हो जितने बार से चिन्ह पर ऐसे ही संबंध होता है इसी प्रकार पृथ्वी जल आदि शब्द इसलिए वेद में उसी शब्द का प्रयोग होता है धाता यथा पूर्व मकल देता है शब्दार का संबंध ये परंपरा इसकी समान परंपरा चलने से नित्य कहा गया और मीमांसक लोग सृष्टि नहीं मानते प्रलय नहीं मानते इसलिए नित्य मानते हैं और ये जो प्रलय होता है आगे सृष्टि होने पर उसी प्रकार की से संबंध की परंपरा चलती है ये परंपरा नित्य है प्रवाह होने से नित्य से संबंध शब्द अर्थ का संबंध नित्य है न कूटस्थ नित्य कूटस्थ नित्य नहीं है प्रलय काल में लीन होते फिर उत्पन्न होते तो समान परंपरा शब्द से होने से नित्य कहा गया एक तो आगम प्रमाण को मानने वाले प्रतिज्ञा करते हैं निश्चय करते हैं न पुनर्गमन निरपेक्षा सर्गांतर से भी तादृश है संकेत प्रतिपत्न प्रतिपत्व सके थे भाव आगम की अपेक्षा नहीं करके अन्य अन्य सृष्टि में वैसे ही संकेत निश्चय होगा वैसे ही नहीं होता है प्रतिपत्व न ई सत्य समर्थन होते हैं आगम के अनुसार ही देश शब्द का संबंध एक ही संबंध रहता है इसलिए शब्दार्थ संबंध को नित्य कहते हैं व्याकरण का शब्द को नित्य मानते हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंध शक्ति को नित्य मानते मीमांसा को भी नित्य कहते हैं तो ये आगम प्रमाण मानने वाले कहते नित्य कहने का अभिप्राय उसी प्रकार शब्दार्थ संबंध सब कल्पना रहने से परंपरा नित्य होने से उसको नित्य कहते हैं वाचकम आख्याय प्रणिधान आह ये कहा ईश्वर प्रणिधानाद समाधि की सिद्धि होती है तो ईश्वर के लिए तो बता दिया सर्वज्ञ है ईश्वर उसका वाचक कह दिया प्रणव और उसके प्रणिधान कैसे करना है उसके लिए कहते हैं विज्ञात वाच्यवाचकत्व से योजना विज्ञातम वाक्यवाचकत्व ये न योगी नाता योगी विज्ञान क्या बनेगा विज्ञात वाक्यवाचकत्व ये न योगिना सयोगी अच्छा एक होगा ना तत्व रहेगा दीर्घ होगा विज्ञातम वाक्यवाचकत्व ये न योगिना न स योगी विज्ञात क्या बनेगा विज्ञात वाचवाच तत्व न सहयोगी नहीं हुआ क्या है विज्ञातम वाक्यवाचकत्व ये न योगिना सयोगी क्या बोलते समझे समझ आएंगे बोलो योगी नाम होगा लिखो लिखो विग्रह लिखो तो और समझ जाएगा विग्रह लिखो विज्ञातम वाच्यवाचकत्व ये न लिखो लिखो लिखो विज्ञातम वाच्यवाचकत्व ये न ये बिना सयोगी परम मत विज्ञातम वाच्यवाचकत्व ये न क्या बोला बोलो उसको क्या है तो विज्ञातम वाच्यवाचक वाच्यवाचकत्व ये ना तो कहाँ चल जाएगा विज्ञात वाच्यवाचकत्व क्या बनेगा विज्ञात वाच्यवाचकत्व विसर्ग विज्ञात वाच्यवाचकत्व तस्य तस्य अंदर हमने है विज्ञात वाच्यवाचकत्व से योग्य होना जिस योगी ने वाक्यवाचकत्व को जान लिया वाक्यवाचक भाव को जान लिया वाच्यत्व और वाचकत्व किस अर्थ में वाच्यत्व किस में वाचकत्व है ईश्वर शब्द में वाचकत्व है अर्थ में वाच्यत्व है ऐसे वाक्यवाचकत्व को जिसने जान लिया योगी के लिए प्रणिधान करने के लिए बताते हैं तप तदर्थ भावनम तप तदर्थ से भावनम तस्वीर तद्यप तदर्थ से भावनम तदर्थ भावनम सूत्र में कितने पद है ये पद क्या है तद्यप है एक पद है तदर्थ भावनम दूसरे पद है तस्य जप तद्यप ष्टी समास हुआ तदर्थ भावनम दूसरा पद हुआ तस्य जप तस्य कस्य प्रणव से जप प्रणवाभिधेय से ईश्वर से भावना से वाचक प्रणव का प्रणव का अर्थ हो गया ईश्वर ईश्वर की भावना यही है जप और भावना जप का अर्थ क्या कहें स्वाध्याय तो प्रणव का जप भी और उसका अर्थ भावना तदस्य योगी न प्रणवम जपत प्रणवार्थम च भावेत चित्तम एकाग्रम संपद्यते तथा से उत्तम प्रणव का जो जप करता है अर्थ चिंतन करता है चित्त एकाग्र होता है तो जप के लिए एक अथर्ववेद में शांतिद उपनिषद आया उपनिषद आई शांतिद उपनिषद उसमें कहा गया जपो नाम विधिवत गुरुपदिष्ट वेद अविरुद्ध मंत्र अभ्यास विधिवत गुरुपदिष्ट जप का अर्थ है गुरु के द्वारा उपदिष्ट विधिवत उपदिष्ट यथा विधान गुरु के द्वारा उपदिष्ट हो किंतु वे गुरु उपदेश कर देते हैं जो भी उपदेश करेंगे नहीं वेद अविरुद्ध होना चाहिए उपदेश कर देते तो हम शुरू से कोई कोई ऐसे मंत्र जो वैदिक मंत्र है बिना संस्कार स्थिता ही उपदेश कर देते हैं वो नहीं वेद अविरुद्ध मंत्र विधि पूर्वक गुरु के द्वारा उपदिष्ट हो गुरु उपदिष्ट अपने मन से नहीं गुरु उपदिष्ट होने के बाद भी वेद से अविरुद्ध होना चाहिए वेद विरुद्ध नहीं गुरु न उपदिष्ट गुरु उपदिष्ट हो और वेद न अविरुद्ध हो इस तो मंत्र का अभ्यास ही जब इस अथर्वेद के अंदर सांडिल उपनिषद एक स्टार्टिंग आता है उसमें कहा गया अर्थात गुरु के द्वारा उपदिष्ट भी हो और वेद से अविरुद्ध हो वेद के विरुद्ध है तो मंत्र शक्ति नहीं इसमें इसलिए मंत्र तो यहाँ प्रणव कहा गया प्रणव के लिए जो गुरु उपदेश करते जिसको जो अधिकारी है उसके लिए जपने के लिए और जिसके लिए उपदिष्ट नहीं उसके लिए प्रणव ने जो भगवान का नाम बहुत है वाचक प्रणव कहा गया ठीक है लेकिन जो प्रणव का उपदेश जिनको होता है उनके लिए प्रणव जप करने का है नहीं तो जो मंत्र है गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो मंत्र है वेद अविरुद्ध मंत्र वो मंत्र का अभ्यास है बहुत शास्त्रीय विधि निषेध को नहीं जान करके विरुद्ध का भी उपदेश करने वाले होते हैं किस मंत्र का अधिकारी कौन है इसके ज्ञान बहुत लोग में प्रसिद्ध बहुत हो जाते हैं इतने मात्र से शास्त्र शास्त्रीय मत उनको ज्ञान है ऐसा नहीं बहुत ऐसे अशास्त्रीय मत का उपदेश करते ही करेंगे कलयुग में इसे शास्त्रीय जो वेद अविरुद्ध मंत्र का अभ्यास करना चाहिए गुरु उपदिष्ट तो ठीक है गुरु के द्वारा भी बहुत चाहिए किंतु वेद अविरुद्ध होना चाहिए यदि वेद विरुद्ध है वो मंत्र अभ्यास को जप नहीं करते इसलिए यही शास्त्र है ये वेद वाक्य प्रमाण है विधिवत गुरुपदिष्ट वेद आविर्ध मंत्राभ्यास इसलिए प्रमाण भी गुरुपदेश यदि होता है और वेद कवि तो जिसके लिए जो अधिकारी है उसके लिए जप करने का नहीं तो अन्य भी नाम है विष्णु सहस नाम है हजार नाम है शिव सहस नाम भी है दुर्गा का भी है सबका है नाम बहुत है भगवान का नाम जप करने का जो जैसे अधिकारी के अनुसार जपना चाहिए भावना का तो जप करना और अर्थ का भावना चिंतन पुनः पुनः चेत से निवेदन ये भावना है बार बार मन में उसको रखना अर्थ का चिंतन करना ये करने से क्या होगा तथा किम सिद्धि तथा ऐसे प्रणव को का जप अर्थ का चिंतन करते हुए चित्त एकाग्र होता है इसलिए जप करते समय ऐसे अर्थ का चिंतन भी आवश्यक है तो जो रामायण है रामचरितमान से नवदा भक्ति नौ प्रकार भक्ति कहेगी मंत्र मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन में वेद प्रकाश ऐसे कहा पंचम भक्ति में मंत्र जप कहेगी किंतु मंत्र जप किस प्रकार दृढ़ विश्वास है खाली मंत्र जपन नहीं दृढ़ विश्वास विश्वास दृढ़ विश्वास सामान्य विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास एक स्थान वो कहते हैं मेरा भक्त कहा ही मेरा आशा करे तो कहूँ कहाँ विश्वास कहता है मैं भक्त भगवान का और चाहता है मुझे ये अमुक मिल जाए ये मिल जाए वो हो जाए ये मेरे कहाँ विश्वास है यदि विश्वास है तो आशा वासना नहीं होनी चाहिए तो विश्वास किसका है कहेंगे जो आशा नहीं करता है निर्वाचन है वही विश्वास है निर्वाचन हो गया तो विश्वास और दृढ़ विश्वास दृढ़ विश्वास थोड़ी सी इच्छा नहीं हो भक्त कहते हैं जो आशा करता है इच्छा करता है तो भक्त नहीं है तो भक्त कौन है जिसका विश्वास इच्छा नहीं हो तो विश्वास कहाँ है किसका विश्वास है कहाँ विश्वास मतलब विश्वास तो नहीं उसकी उसका तो जो आशा करता है तो विश्वास किसको कहेंगे जो आशा नहीं करता इच्छा नहीं करता उसका विश्वास है और मंत्र जब करते समय दृढ़ विश्वास होना चाहिए थोड़ी सी इच्छा नहीं होनी चाहिए तब दृढ़ विश्वास है तब मंत्र जप है भक्ति है इसलिए नाम जप भक्ति तो है कि नाम जप के साथ जोड़ते हैं दृढ़ विश्वास का इसको छोड़ करके खाली दृढ़ विश्वास होने तो नहीं होगा दृढ़ विश्वास खाली जप करना और विश्वास नहीं इच्छा करेगा तो नहीं इच्छा रहित होकर के भगवान का नाम जप करे तो ये होता है इसी प्रकार यहाँ भी जप करते समय अर्थ चिंतन करें और इसे माला भी चलती रहेगी बात दूसरे करते रहेगी अभ्यास हो जाता है इसे हाथ में लेकर के तो डांटे कहाँ गया ये हाथ भी चलता है नहीं चलता है डांट पटका चलता है मोक्ष की इच्छा तो इच्छा मोक्ष इच्छा को तो छोड़कर बाकी इच्छा छूट जाए तो मोक्ष इच्छा भी छूट जाती है बुभुक्ष संसारे मुमुक्षुर दृश्य थे भोग मोक्ष निगमाकांक्षी दुर्लभ ही महाशय बुभुक्ष बहुत है भोग करने की इच्छा करने वाले बहुत है अरे मुमुक्ष भी कोई कोई है पहले मुमुक्षा हो मोक्ष की इच्छा से अन्य इच्छा छोड़ दे तो आज केवल अभी क्या रहेगी मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा अंत में जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद मोक्ष की इच्छा रहेगी अभी समाप्त तो गई तो मोक्ष इच्छा भी छुट गई तो जीवन मुक्त हो गया मोक्ष की इच्छा भी छूट जाती है किंतु पहले मोक्ष की इच्छा से अन्य इच्छा को छोड़े त्रिगुणातीत तो होने के लिए सत्वगुणों को भी छोड़ना पड़ेगा पहले से सत्वगुण को तो छोड़ देगा तो क्या होगा रजगुण तमो उसको दबा देंगे इसलिए पहले तमोगुण को जीतने के लिए रजगुण के द्वारा तमोगुण को जीतना सत्वगुण के द्वारा रजगुण को जीतना सत्वगुण शुद्ध होने पर रजगुण तमोगुण कम होने पर फिर ज्ञान प्राप्त होता है तो सत्वगुण का भी त्याग हो जाता है तो मोक्ष इच्छा भी छोड़ना है किंतु कब पहले सांसारिक इच्छा छूट जाए मोक्ष इच्छा दिग्ध हो जाए फिर धीरे ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मोक्ष ऐसा भी छोड़ जाती है उसको छोड़कर बाकी इच्छा छोड़ देने कोई इच्छा नहीं रखे साधु को चाहिए केवल मोक्ष की इच्छा से अन्य इच्छाओं का त्याग करें ज्ञान प्राप्त करने से वो भी छूट जाती है तो दृढ़ विश्वास करने से विषय इच्छा त्याग करके मंत्र जप करना ये पंचम भक्ति है सरल कहते बहुत लोग ज्ञान मार्ग की निंदा करने वाले खंडन करने वाले द्वेष करने वाले द्वेष करते ज्ञान के नाम सुनकर बहुत लोग द्वेष करते हमारे ये मार्ग सरल है भक्ति सरल है सरल है क्या है तो कुछ नहीं बात हम तो ईश्वर समर्पित है ईश्वर अर्पण ईश्वर अर्पण शब्द से कह देने से अर्पण नहीं होता है मन से यदि बहुत इच्छा है तो हम ईश्वर में अर्पित है ईश्वर में अर्पित बाकी सांसारिक वस्तु के लिए ईश्वर में समर्पित नहीं ईश्वर की प्राप्ति दर्शन मुख्य के लिए ईश्वर में समर्पित मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं क्योंकि ईश्वर में समर्पित होगी बाकी क्या करना प्रपंच के लिए विपरीत है प्रपंच के लिए छोड़ देना चाहिए प्रारंभिक और भक्ति करनी चाहिए भोजन करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए ज़्यादातर तो लोग क्या कहेंगे ये तम में समर्पित है परमात्मा ज्ञान भक्ति मोक्ष के लिए समर्पित हो उसके लिए कुछ नहीं करते संसार प्रपंच करते हैं ये समर्पण भाव तो है किन्तु समर्पण वास्तव होना चाहिए शब्द से समर्पण का अंत नहीं होता है इसलिए भक्ति सर्व जो कहते भक्ति के लिए भी योगाभ्यास करे वैराग्य सर्वत्र आवश्यक है इसके बिना कुछ नहीं होता है इसलिए इसमें भी इच्छा का त्याग करे जो इच्छा छूट जाए तो भगवान का नाम लेने से मुख्य हो जाएगा ज्ञान को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो जप एक साधन है उसके साथ अर्थ का चिंतन करना है और जप भी इस प्रकार गुरु के द्वारा उपदिष्ट मंत्र का चिंतन वेद का विरुद्ध होना चाहिए तथा उत्तम ये कहा गया है तथा उत्तम टीका में एकाग्रम एक भगवती आरामती चित्तम एक भगवान में चित्त रमण करता स्थिर हो जाता है अत्र व्यास किम गाथम उदाहरती व्यास जी ने कहा है कहते तथा च उत्तम कहा गया है स्वाध्याय योग आसित युगात साध्यायन आमनित साध्याय से योग को प्राप्त करे योग से साध्याय साध्याय से योग मासित तो उपासना करे ध्यान से उसके बाद योग से योग अनुष्ठान से स्वाध्याय को प्राप्त करेगा इसमें स्थान में कहा गया है जपस्तांत शिवम ध्याय ध्यान शांत शिवम जपे जप और ध्यान जप करते करते थक जाता है तो मन से ध्यान करे ध्यान करते करते थक जाता है तो जप करे जप ध्यान समायोजित परम ब्रह्मादि को सती जप ध्यान से युक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है इस प्रकार जो शास्त्र चिंतन करते हैं वो उत्तमा तत्व चिंता से मध्यम शास्त्र चिंतन अधमा मंत्र चिंत तीर्थयात्रा समाधि उत्तम है तो तत्व चिंतन ज्ञापन और मध्यम है शास्त्र चिंतन शास्त्र के वेदांत आदि शास्त्र का अर्थ चिंतन करना श्रवण मनन और अधम है मंत्र चिंता मंत्र जप इसलिए मंत्र जप की अपेक्षा शास्त्र अर्थ चिंतन करना उत्कृष्ट है एक उपनिषद में है मैत्री उपनिषद मैत्री उपनिषद होगा या मैत्राणी उपनिषद है उत्तम है तत्व चिंतन निधि ध्यान मध्यम हो गया सात्व चिंतन श्रवण मनन और उसकी अपेक्षा जगह निकट है मंत्र जप जप चिंत उससे तीर्थ यात्रा और निकट है इस प्रकार साधन है तो मंत्र जप भी एक साधन है ध्यान किंतु श्रवण मनन रूप तो जो साधन है निधि ध्यान ये साधन उत्कृष्ट है तो जो वेदांत के अनुसार श्रवण मनन निध्यासन नहीं कर पाता है उसके लिए उपासना ध्यान कहा गया तो ये इसमें ध्यान पहले आवश्यक है एकाग्र करने के लिए जप और अर्थ चिंतन ध्यान आवश्यक है स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाश प्रकाशते स्वाध्याय योग दोनों के द्वारा फिर परमात्मा प्रकाश हो जाते हैं ये कहा गया तत ईश्वर समाधि तत्फल लाभन तम अनुगुणादि जब जप करता है और उसकी अर्थ चिंतन करता है तो उसके पश्चात ईश्वर उसको अनुग्रह करते हैं समाधि करा देते हैं समाधि का फल प्राप्त करा देते हैं समाधि तत्फल में पहले सविकल्प समाधि उसमें निर्विकल्प समाधि फिर कैवल्य प्राप्त हो जाता है ये करते हैं तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा कहा समाधि की सिद्धि होती है तो समाधि होने पर ज्ञान होता है आगे बताएंगे ज्ञान और विघ्नों का अभाव होता है ओम